बाईसवां जिसके पास कोई ऐसा रास्ता है जिसमें इसे इल में छू लिया जाए खुदा जन्नत के रास्ते की सहूलत फराहम करेगा